माय जार जोगे रंगता Yeah. बांधे ऐसे बेचा चाहिए नाय रे बहन से तो मिले बाल बाबा जी पास पड़वा दो का चार दो बांधी चलो चल तो देखो चरपट चेला देखते हैं बाबा गुरुनाथ को हाथ से गई भाई चेला और दिन तो मैं कहो धोना को लकड़ी लिया मोकुन आठ जावा इतने बच के साथ घाना होता है बोले बाबा जल्दी छुटा ले और नहीं मेरा प्राण निकसा जाए बाबा गुरुनाथ ने जादू को बटवो लियो तो चरपट चेला पे जादू दियो तो बैल को चेलो बना लियो गोपी चंद का पिंजरा पे हाथ गिरो गोपी चंद उतार लियो कंठी तोड़ दी बड़ा सुन अरे चेला या बंगाला को आज तो सम्राट चेलान को लेकर के बाबा गोरखनाथ धुना पे आ जाता है चारों जने को कायत की बुलवाई तेली की बुलवाई बाबा जी ओ जो ऐसी माया नहीं रचेगा भगवान बाना वाला पे मारी और ये जादू नहीं चलेगा तो चारों जने और बाबा गोरखनाथ सुन और भगवान बाना की तल्ला उठा दी बाबा गुरुनाथ थे बोले भगवान माना पे जो तुम्हारा जादू तुमने चला दिया तो फिर मुझको तम वही कि बाबा जी भगवान पाना वाला पे हमारा जादू कत्ते ही नहीं चलेगा गोपीचंद राजा कह बोले गए बाबा जी मैं बहन से मिली आऊं बाबा गोरखनाथ कह बोले गए बेटा जी तू बहन से मिलवा जाए तो भाई मिलिया तो चेला उठा करके और गोपीचंद बंगाला में बहन के जाकर के अलख जगाया यानी नाद बजाया गोपी चंद की महलन गई थी आवाज रे गोपी चंद की भेणिया सु माँ सुना बोली तो गोपी चंद की आवाज महलन में गई पर भाई सु गोपी चंद नहीं बोली अरे उठ उठ रही बांधी हीरा दे बांधी येरी कोई जोगी को खड़ो अपने द्वार री बिच्छवा को तो जल्दी घेरा बांधी कोई जोगी अपने दरवाजा पे खड़ो उसको तो बिच्छा दिया और वो को शब्द सुना तो मोसू माता खेतो आज मोसू भाण भाण खे के बोले रही कोई अपना पीर को कोई अपना पीर सु आयो है तो वापस तो जल्दी बिछा दिया ना जो कि मुख पर दे जाएगो सरापरी हिंदू अपनो धर्म घट जाए वो आशा करके आयो निराशो चलो जाएगो बांदी मुख पर दे जाएगो सरापरी हिंदू अपनो धर्म घट जाएगो तो ऐसा करे वो बिछा दिया बांदी ने कंचन वर्णा थाल भर के आचर ढक के लाई बांदी आई रे डोडिन भारत तो चंद की देख सूरत मूर्त मायर बांदी भी ले ऐसो बाबा जी तेने भी नहीं देख अरे बाबा जी लाई रे जन्म धर की तो रोटी रे दलत दर तेरो खोबा ने को डोले घर घर तू बैठो बैठो खाजो बाबा जी मैं तो को जन्म धर की रोटी लाई गोपी चंद कह बोले गो बांदी तेरा हतनगी में बिछा नाय लूंगो दवा तो कुनाय दूंगो बांदी आवेगी माँ की जाई भेंडरी चंपा दे जा सो मिलवा को आयो मुको काई करना है ऐसा माल खजाना तो मुक्ता छोड़ आयो बांदी ने बाबा जी तेरे धक्का लगा दूंगी तेरे बांस पड़वा दूंगी तेने में बांधी बताई तो बताई कैसे तो कैसे चंद बांदी सुखता है और कैसे बांदी सुनते कैसा आगे चंद चलता है Thank you. बांधे उन दिन गई बैरण भूल आज मत तो बासन la दे पुलमा रे के छोरे तुम समझावा जावाजे गिरी बांधे फूल नंगर टूकन पड़े रे आज मोयत मारण ठग बाकी तेरी बात रे बाबा जी मोए ठगिया सो दिख रे जोगी का ये तो ठग बाकी तेरी बात रे बाबा जी कोई ठगिया मुलक का वचन सुनाया हिरे बाबा काई काई दिया चंपा दे कब्यावर सेंदाणी मक सगड़ी बता दे गोपी चंद राजा जब मानो रे बारण ಬ್ಯಾಕ ಬತ್ತಾರ್ದೆ जवर गोपी चंद बांधे सम जाएरा हेरा देहर बांधे तो मैं हाँ, बहुत सो हाथे रे बहन कत डोड्या पर भंजोय मन दियो है हीरा मन सो तो तारे बहन चातर साड़ी मट क्यों दिखना मैंने शेर माते जायन सिर पर ke kamare pa ro se re to ram

चर चलता सुर बान की चंद अवर दिन के जान्या रात हो जे बांधी लगी रे बाबा जी मेरा ब्याह में दियो जो सारी डायजा की बात बता दे जब मैं तो को गोपी चंद मानू नहीं तो को कोई ठगिया मुलक को है बांदी मैंने दियो है एरा पसो हाथी री बहन के दरवाजे भंजो है मैंने दियो है हीरा मनसो तोतारी बहन चतर साड़ी में टेक्यो है मैंने दियो है दिखनो सो चीर माँ की जाई ने जो सिर पे होड़ रखो है बांदी मैंने तू डाय जा में दीनी बांधी खेब लगी खेतो जोगी का मारे तू पड़ोसी रहो और खे बरात में गए हो बस माँ बाप ने जो डा जो दियो जो तेने सगड़ी बात देखी है अरे बाबा जी ये तो तेरी ठगवा की बात रे कोई ठगिया मुलक को बाबा जी ये सैंदानी नहीं बात हो गोपी चंद राजा खे बोले बांधी तेरी एक बात नहीं चलवा दे रही है बोले बांधी तू माँ की चाहिए जल्दी भेज दे जसू मैं चंपा दे मिल देगा बोले बाबा जी गोपी चंद आया को जाने तो दिन की रात हो जाएगी बाकी पांव में पदम है माथा पे चंद्रमो है सोलक हाथी सवालक घोड़ा जिनकी गगन छटती आवे आसमान रे चलता सूरज भान डटेगा चंद ऐसा हाल भाव है ना तो तो कोई ठगिया मुलक को है सुमो ठगवा को डोल है तो कैसे हे गोपीचंद और बाबा गोरखनाथ को नाम लेवे है और वो जोगी का वर्ण तो हटे हैं और वही राजान की सैंधानी वही पांव पदम माथा पे चंद्रमो और बांदी पिछाने है और बांधी पिछाणते तिवाड़ो महलन में खावे खावे है काय वरण बतद सगड़ायो रे गोपी चंद जब तो धाका विकधका देवं दुःखचार नङ्गरस त तो बारे चंद ज्ञान रहुया दिल में रहुया आये गोपी चंद भरे लिखमज के वे बात रे गोपी चंद झुरे जुरे रोया जी नायर बिगड़े का तो साथी कोई नाय गोपी चंद्र रोए रो बहन कहो द्वार जामने जाई मोड़ न बोल when I am hoi to varan ragaruji avediyo. Ajiyane liya re guru गोरख नाम रे वारण सगड़ा वही रे बरताया चंदर मां बांधे न पे छाणियो गोपे चांद ठाडो आज बांधे खागे रहते वालो मलन मायर सतवादे राजा याने रे पिछाणियो आए अब रो तेरा चाले बांधे ठेण कत चाले जंपा बाई कन फौजी यरी वरण कैसे रोते बांधी आए रे जोगे कान गाय तो

बचन जे बोलो येरी बांदी जल दे पाता दे मोये भेदरी बरण कैसे रोती तू Lay them was, I have, Kayona, रे चंपा देव कैया तो बताओ जी धरे तेरे फटे गे अब धरे विठाडरे बहण माको जायो तेर आयो जे बांदिन जबीर गोपी चंद को लियो या नाम

when it's not. दुनिया पे खड़ो है तो बांधी खेबा लगी अरे बाबा जी गोपी चंद आए वो जन न तो दिन की रात हो जाएगी चलता सूरज भान कट जाएगा गोपी चंद इन हालत तो कहाँ घुमा रहा है को ना तेरे धक्का दिवा दूंगी मेरा नंगर सो तो भार तड़वा दूंगी गोपीचंद को दिल में हो गए ओंडो ज्ञान भगर खम की बात भर ली गोपीचंद झुरझुर रो लग गया आज तेरी वही टाइम है जहने भी तेरी टाइम ही जो बांधी तेने मोल खरीदी ही और तेने पाड़ी और आज बांधी तो मार बाक और नुकर नंगर से बाहर तड़वा दूंगी गोपीचंद राजा बांधी कह लगी तो बाबा जी पाम में पदम है माथा पे चंद्रमा ये वर्ण बता दे तो गोपीचंद मान गोपीचंद ने गुरु को गौरव को नाम लियो बाबा जी वही सेनानी वो बाबा गोरखनाथ ने वही माया फैलाकर गोपीचंद राजा वही सेनानी ने पांव पदम माथा पे चंद्रमो बांधी ने गोपीचंद तुरंत पिछाणो रहे तिवाड़ो महलन में खागी तो बांधी पिछाड़ते पिछाड़ते तिवाड़ो खान महलन में जा घड़ी तो एक मैं सोधी आई बांधी रोती चाली ठिणकत आई चंपा दे कनाई चंपा दे बहन कहने लगी बांधी तू हंसती गई और तू रोती कैसा आई या कोई जोगी ने तो गाड़ी काटी या कोई खोटा वचन बोलो जोगी का की मार उठा तू तन की खाली बहन तू रोती क्यों आई बांधी खेवा लगी बहन मेरी एक अचंबो ऐसो ल्याई जो मुँह पे खयो नहीं मैं एक अचंबो लियाई हूं पर मुँह पे खयो नहीं जाओ ना धरती फट गई भैंगज हो गया बहन मेरी मुँह पे खयो नहीं जावरी अचंबो में एक महलन में लियाई अब बांधी करे तू जो खे दी तो तेरी मार और मारते मारते खाल उठा देगी तू मेरा भाई कुछ भी बता रही है वो राजा है बहन मेरी चल के जल्दी देखो री गोपी चंद राजा तेरो माँ को जाए जोगी बन दरवाजा पर ठाडस बहन का तन मदन में आग लग गई बांधी जुलम कर दी बहन तेने सीधा टूक खाया है तेरे नहीं जिरता है तू माँ का जाए जोगी बतावे तेरी नहना में मेघ ठुका दूंगी तेरी खाल कटवा भूस भरवा दूंगी आज तू गोपी चंद राजा को जोगी बतावे अब बांधी थर थर थर थर कांप जो जो तेरे मार देवा लग गई तो मार देगी नहीं तो जल्दी से जल्दी बहन चल के देख माँ को जाए गोपी चंद दो इन पर तो चंपा दे अपना सोड़े श्रृंगार और वही पीर का भाई ने दियो जो दिखना चीर को होट करके और एक थाल में बिच्छा लेकर के और आवे है और गोपी चंद वही जोगी का भेष में फिर बहन को पावे है तो कैसे बहन के और गोपी चंद के दो दो स्वाद है Thank you. मन राम राम पढ़ाऊ रसुआ आज मारा पिंजरा में आ जाए तो तुने हर को नाम पढ़ाऊ रसुआ आज मारा पिंजरा में आ जाए तो तो ये राम राम पढ़ाऊ रसुआ आज मारा पिंजरा में आ जाए तो पर पर में थारे मोती मोती सार पर पर में थारे मोती डर सार थारी सोना में थारी सोना में चौंचे मंडाऊ रसुआ आज मारा पिंजरा में आ जा तूने राम ही राम पटाऊ रसुआ आज मारा पिंजरा में आ जाए तो तुन हर को नाम पटाऊ रसुआ मोतीड़ा भिसारू पर पर में थर मोतीड़ा भिसारू थारा पावन थारा पावन में रहने वरिया फैराऊ रसुआ आज मारा पीले में आए जाए तो तुन राम है राम है पढ़ाऊ रसुआ आज मारा पिंजरा में आए जाए तो तुन हर को नाम सुनाऊ रसुआ आज मारा पीले में आ जाए चंपन हुए डो दिगणो अब चीर खा जाए नाय नायक पूचीर ले ಪರ್ಯಾರ ಮೋತಿನ ಕಾರ ತಾಳ ಪಲ್ಲ ಢಕೆ ಕರಿ ಕಲ್ಯಾ ने और रे बाबू जी ऐसो अब तक नहीं देखा जी ये रे बाबा जी मेरा रे भाई के सूरत को और रे गोपी चांद तेरी से सूरत को हाँ जी திறதரே தேன பாத்தரதை மர சர ஜோகி துவம சமஜாயே பவஜி பாத்தர துங்கி வரட்டியல ரஜ நம தரகி ரோட்டி கோயிலா वचन सुनाय मेरी सुन सुन रे बहना मेरी माँ की माँ के जाए तो मैं सब जावागे येरी ब्याह येरी भाण मेरे ऐसा खा जाना मेरे भोय कंचन वरण

gave my, my, my, my, बजेय तो ठगवाय कैसे बात रजोगे ठगिया

देख्या मरी रे जे गोपी चन भगे के भर लेने बहन की बात रे बहन क्या की बात है 难个。 के बहन मरी बेटा ये रे बेटा सारे रे भक्त के लग गयो दोस रे माँ के रे जाई बहन मरी